और जो अमाल उन्होंने कमाए हैं उनकी बुराइयां उनके लिए जाहिर हो जाएंगी और वो उन्हें घेर लेगा जिसका वो मजाक उड़ाते थे